श्रीमद्भागवत कथा दसम स्कंध उत्तरार्ध आकाश आपकी नाभि है अग्नि मुख है और जल वीर्य स्वर्ग सिर दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है चंद्रमा मन सूर्य नेत्र और मैं शिव का आप आपका अहंकार हूँ समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा तो द्यौशीर्षमाशासुतिरङ्घ्रिरुर्वी चन्द्रो मनो यस्य दुगर्ग आत्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः रोमाणि यस्यौषधयोऽम्बुवाहाः केशाविरिञ्चोधिषणा विसर्गः प्रजार्प्रतिर्हृदयं यस्य धर्म स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः तवावतारोऽयमकुण्ठधामन् धर्मस्य गुप्ते जगत भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि शब्द रमेक आद्य पुरुषो द्वितीय सूर्यस्वदिग्धेतुरहेतुरीशः प्रतीयसे स्थापि यथा विकारं समायया सर्वगुणप्रसिद्ध्यै सूर्य सूर्यपिहितच्छायया स्वया छायां च रूपाणि च सञ्चकास्ति एवं गुणेनापिहितो गुणास्त त्वम् आत्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन् यन्मायामोहितं धिय गृहादिषु उन्मज्जयती निमज्जयती प्रसक्ता वृजनाणवी देवदत्तमिमं लब्ध्वा निलोकमजितेन्द्रियः यो नाद्रियेत त्वत्पादौ स सोच्योषात्मवञ्चकः यस्त्वां विसृज्यते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरं विपर्येन्द्रियार्थार्थं विषमत्यमृतं त्यजन् अहं ब्रह्माथ विविधा मुनियस्यामललाशयाः सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वाम् आत्मानं प्रेष्ठमीश्वरम् तं त्वा जगद्धिद्योदयान्तहेतुं शमं प्रशान्तं सुहृदात्मदैवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भावापवर्गाय भजाम देवम् अयं समेष्टोदयितोऽनुवर्ति मया भयं दत्तममुष्य देव संपाद्यता तद्भवत प्रसादो यथा हिते ते दैत्यपदौ देव यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है मैंने इसे अभय दान दिया है प्रभु जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें भगवान श्री कृष्ण ने कहा भगवान आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी है इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है अब इसकी चार भुजाएं बच रही हैं ये अजर अमर बनी रहेंगी यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्रालंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया नगर के न, नागरिकों को बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया उस समय शंख नगारों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया परीक्षित जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है उसकी पराजय नहीं होती